और लोगों में वो शख्स भी है जो एक किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है चुनाचे अगर उसे दुनिया में कोई फायदा पहुंच गया तो वो उससे मुतमईन हो जाता है और अगर उसे कोई आजमाइश पेश आ गई तो वो मुंह मोड़कर फिर कुफर की तरफ चल देता है ऐसे शख्स ने दुनिया भी खोई और आखरत भी यही तो खुला हुआ घाटा है